चक चक जिमि पुर नर नारी चहत प्रात उरयारत भारी जागत सब जगत सबनि बिहाना भरत बुलाय सचिव सुजान हुले हु सब तिलक समाजो, समायो बर महिराजो बेग चलाऊ सुन सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग सवारे नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा तिलक का सब सामान ले चलो वन में ही मुनि वशिष्ठ जी कि राम जी को राज्य देंगे जल्दी चलो यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए अरुंधति अरु अग्नि समाओ रथ चढ़ चढ़े प्रथम मुनिराओ विप्रवृंद चढ़ बाहन नाना चले सकल तपते जनिधारा नगर लोग सब सज सज जाना चित्रकूट कह के न पयाना शिव का सुभगन जाहि बखारे चली चली चलत भई सब रानी सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट के को चल पड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली सौपी नगर सुच ने सादर सकल चलाए सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई विश्व विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले राम दरस बस सब नर नारे जनु कर चले तकि सिय राम समुझि मन माहे सानुज भरत पया दे जाहि देखि सरे हो लोग अनुरागे उतर चले हय गय रथ त्यागे जाय समीप राखी निज डोली राम मातु मृदु बानी बोली श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली तात चहुरथ भलि महता प्रिय परि वारुखारि तु चलत चलहि सबलोगो सकल शोक कृं मगज सिर धरी बचन चरण सिरुनाए रथ चढ़ चलत भये दो भाई तमसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमती तीर निवासु हे बेटा माता बलिया लेती हैं तुम रथ पर चढ़ जाओ नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं पैदल रास्ते के पैदल चलने की योग्य नहीं है माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया पयहार फल यसन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग कोई दूध ही पीते कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं